कम सुने गीत नमस्ते दोस्तों आज के इस कम सुने गीतों के कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम थोड़ा अलग है आपने आमतौर पर देखा होगा कि एक ही नाम की कई फिल्में बनी है अलग अलग सालों में कुछ काफी सफल भी रही हैं और कुछ को लोग लगभग भूल चुके हैं आज हम जाने पहचाने नामों वाली फिल्मों से कुछ भूले बिसरे गीत सुनने वाले हैं आशा है आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा आदमी नाम की चार फिल्में आ चुकी हैं उन्नीस उन्नीस और उन्नीस में लेकिन इससे बहुत पहले उन्नीस में आई थी फिल्म आदमी यानी लाइफ फॉर लिविंग जिसमें गायिका अभिनेत्री शांता हुबलीकर के गीतों ने धूम मचा दी थी पहला गीत भी उन्हीं की आवाज में है इस फिल्म के संगीतकार थे मास्टर कृष्ण राव और इस फिल्म के लिए उनके असिस्टेंट थे वसंत देसाई जिन्होंने इस फिल्म के निर्देशक वी शांताराम के लिए कई फिल्मों को संगीत दिया था बाद में गीत को लिखा है मुंशी अजीज ने सुनिए मुझे शादी पे बुलाएगी ना अगली फिल्म अनोखी है इसका नाम है आंधी 1975 वाली नहीं ये तो 1940 में आई थी इस फिल्म में पंकज मलिक साहब ने एक्टिंग की थी और जो गीत हम सुनने वाले हैं उन्हीं की आवाज में है गीत के संगीतकार केसी डे ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की थी इसका दूसरा नाम था द स्टॉप आरजू लखनवी ने इस गीत को लिखा है सुनिए So far. সকলে হমে গায়ে ভূষণ হমে সকলে ফলে গায়ে ভূষণ সভি চলে মে তুম যা রহা है अरे शाम कहती है फिर सुबह होगी अरे शाम कहती है फिर सुबह होगी अंधेरे में सूरज नजर आ रहा है दिन को लुट जाना इतना घबराना थोड़ा सुख तो देने में है जीवन भर सुख पाना फूल पंक्ति भूल इधर उधर मत भूल भूल पंक्ति भूल इधर उधर मत भूल मगन का धूप आगे बढ़ी जा रही है छोटा दौड़ा चला जा रहा है तारे बनेंगे चमकदार बात ये गोलम की खबर ला रहा है अगर तुम उठाओ तो मिलता है तुझे अगर तुम उठाओ तो मिलता है तुझे मेरा दम तुम्हें अगला गीत फिल्म आसरा से लिया गया है इस नाम से 1966 और 2016 में भी फिल्में आई थीं, पर यह 1941 की फिल्म का गीत है हीरोइन हुस्न बानो की आवाज में ये गीत है अनिल बिश्वास का संगीत और सफदरा सीतापुरी ने इसे लिखा है सुनिए भाई समझिया हो महाराजा मन भाई समझिया हो महाराजा राय कहाँ रतिया हो महाराजा रात के जा लागे नैन है जैसे शराबी पग है जैसे शराबी बनाओ नहीं बतिया ओ महाराजा बनाओ

अगली फिल्म है अधिकार इस नाम से फिल्म 1971, 1986 और उन्नीस में आई थी इनके पहले 1938 में भी आई थी इसी नाम की फिल्म जिसका निर्देशन पीसी बरुआ ने किया था और इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी इसका ऑल्टरनेट नाम था जस्टिस ये गीत आप सुनने वाले हैं मशहूर अभिनेता गायक पहाड़ी सानियाल की आवाज़ में रशीद गोरखपुरी ने इसे लिखा है संगीत है तिमिर बरन का राशन साथ निरासन साके गाएगा गाएगा आशा की दिन बजाएगा आशा की दिन बजाएगा दुखियारे मन के दुखियारे मन के दुनिया राधन गाते गाए जा गाए जा तो जीवन का मंजिल का तेरा गए धीरज धर पर बढ़ार जाओ के बीन बजार जाओ रात मुता प्रेम के आकाश पे जब तेरे तन तक का बादल साजा जब तेरे तन का बादल साजा सगतन जीवन के

जाए आशा के दिन जाए जाए आशा के दिन जाए जाए प्यारे मन की दुनिया में मेरा संसार अफसाना नाम है अगली फिल्म का इस नाम की फिल्म आई थी उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ छियासठ उन्नीस सौ और 2003 में लेकिन इससे पहले 1940 के दशक में भी इसी नाम की एक फिल्म बन रही थी ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म और नामों से भी जानी गई थी एक था कलाकार और दूसरा था गांधी मंदिर पता नहीं ये रिलीज हो पाई थी या नहीं ये मीरा पिक्चर्स लिमिटेड के बैनर तले बन रही थी राजहंस कटारिया का संगीत है और इसे गाया है उमा देवी शंकर दास गुप्ता और साथियों ने सुनिए बनाया इनके बाकी देव माँ इनके बाकी अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत पर ये है फिल्म अमृत से राजेश खन्ना स्टारर अमृत नहीं 1986 वाली ये तो 1941 में आई थी और इसकी जो हीरोइन थी उन्हें कम ही लोग आज जानते हैं उनकी बहू कंगूबाई भी एक्ट्रेस थी जिनका नाम भी नई जनरेशन नहीं जानती होगी हाँ उनकी पोतियों शिल्पा शिरोडकर और नम्रता शिरोडकर को नई जनरेशन जरूर जानती होगी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ तीस और चालीस के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शिरोडकर की इन्होंने उस कंजर्वेटिव जमाने में अपनी डेब्यू फिल्म ब्रह्मचारी में स्विम सूट में जमुना बीच खेलू खेल गीत से सेंसेशन मचा दी थी ये गीत उन्होंने मास्टर विनायक के साथ गाया था उन्हीं के साथ उन्होंने बाद में फिल्म अमृत में भी काम किया था उसी के गीत से हम कार्यक्रम का अंत करेंगे जो मीनाक्षी जी की आवाज़ में है दादा चांदीकर का संगीत है और गीत लिखा है पंडित इंद्र ने मुझे गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत और आप सुनिए ये गीत धन्यवाद सूरते इजहार जज्बा के दिल नहीं Bye.